तक केस की सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी सभी इन्वेस्टिगेटर्स सोचने पर मजबूर हो गए थे एक इनोसेंट से बच्चा सिर्फ गलत परिस्थितियों का शिकार बनने की वजह से इतना बड़ा मर्डरर बन चुका था वैसे तो रोनित ने बहुत बड़ा जुर्म किया था उसके बाद भी ना जाने क्यों पुलिस वालों को उससे थोड़ी हमदर्दी हो रही थी खैर इस वक्त रोनित सिर्फ एक अपराधी है और कानून उसे मुजरिम मानता है वो किन परिस्थितियों में मुजरिम बना और उसके साथ पहले क्या हुआ था इससे कानून को कोई लेना देना नहीं है उसे छह लोगों की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और इसके लिए हो सकता है कि उसे कोर्ट फांसी की भी सजा सुनाए अब केस बंद हो चुका था कुछ इन्वेस्टिगेटर्स अभी तक केस को बंद करने की फॉर्मेलिटी को पूरा करने में लगे हुए थे पूरे पुलिस स्टेशन में भीतर एक अजीब सा माहौल बना हुआ था एक तो इस केस का अंत बड़ा ही भावुक हुआ और ऊपर से इन्वेस्टिगेटर्स कई दिनों से इसकी जांच पड़ताल में लगे हुए थे तो वो भी सभी बहुत ज्यादा थके हुए थे सभी के चेहरे पर थकान की लकीर देखी जा सकती थी ऑफिस का सारा काम खत्म होते होते आधी रात हो चुकी थी विक्रांत अभी भी पुलिस स्टेशन में ही बैठा हुआ था वो काफी ज्यादा थका हुआ था अब वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर चैन की नींद सोना चाहता था विक्रांत ही नहीं बाकी सभी इन्वेस्टिगेटर्स भी अब यही चाहते थे पिछले कई दिनों से ये लोग सोए भी नहीं है लगातार काम ही कर रहे थे विक्रांत अब अपने घर वापस जाने की तैयारी करने लग गया अभी वो यहाँ ऑफिस से निकल ही रहा था कि उसे अचानक से कुछ याद आ गया कुछ बहुत जरूरी काम वो भूल गया था ये काम खत्म किए बगैर वो यहाँ से भला कैसे जा सकता था क्योंकि बिना इस काम को खत्म किए आज रात उसे नींद भी कहाँ आने वाली थी विक्रांत इधर उधर घूमते हुए किसी को ढूंढ रहा था दरअसल वो किसी और को नहीं बल्कि इस वक्त नैना को ही खोज रहा था उसे ढूंढते ढूंढते विक्रांत बाथरूम की तरफ चला गया क्योंकि इस वक्त काफी रात हो चुकी थी सो अधिकतर इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ से जाने लग गए थे विक्रांत जब बाथरूम की तरफ गया तो वहां उसे लेडीज वॉशरूम से फ्लश के चलने की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत को लग गया था कि नैना ही वॉशरूम में है वो वॉशरूम से बाहर कॉरिडोर में ही खड़े होकर नैना के आने का वेट करने लग गया जैसे वॉशरूम से फ्लश के बंद होने की आवाज आई उसके बाद तुरंत ही वॉशरूम का दरवाजा खुल गया और कुछ ही सेकंड में नैना विक्रांत के सामने आ गई वो अचानक से विक्रांत को वॉशरूम में खड़े देखकर चौंक गई ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम नैना ने चौंकते हुए कहा पहले तो वो अचानक से डर गई थी लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ विक्रांत खड़ा है तब जाकर नॉर्मल हुई वो कॉरिडोर में लगे वॉश बेसिन में जाकर अपना हैंड वॉश करने लग गई थी साथ में वो विक्रांत से कहने लगे अच्छा तो तुम क्रेडिट के लिए आए हो टेंशन मत लो तुमने काम किया है उसका पूरा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा जो भी रिवार्ड या प्रमोशन वगैरह होगा सब मैं तुम्हें दिलवा दूंगी अभी नैना बोल ही रही थी कि विक्रांत उसके सामने अपने हाथ में एक लाल रंग का बॉक्स लेकर खड़ा हो गया ये ये क्या है नैना ने हैरान होते तो विक्रांत से सवाल किया ये विक्रांत ने अपने अगल बगल नजर दौड़ाई जब उसने देखा कि कोई उसे देख नहीं रहा था तब उसने इस बॉक्स को नैना के सामने खोलते हुए कहा नैना ये ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था विक्रांत ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए नैना से कहा तुम ये नैना नैना ने जब विक्रांत के हाथ में ईयर रिंग्स देखा तो वो भी सन्न रहेगी उसे भी इस वक्त नहीं सूझ रहा था कि क्या रिएक्शन दे वो खुद थोड़ी असहज हो रही थी वो वो मैंने लास्ट टाइम फाइट में तुम्हारी इयर तोड़ दी थी ना तो इसलिए ले आया विक्रांत ने शर्माते हुए कहा मानो उसकी जबान में शब्द ही खत्म हो चुके थे मैं मैं इसे शोरूम शोरूम शोरूम से खरीद कर लाया हूँ ये ये बहुत महंगा है मेरा मतलब वो शोरूम का सबसे महंगा तुम ट्राई करो ना एक बार एक बार अच्छा है अच्छा है कि नहीं हम्म अच्छा है बहुत अच्छा है नैना ने शर्माते हुए कहा उसने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया ले, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी तुम वैसे नैना कभी इतनी नर्वस नहीं हुई थी जितनी वो आज थी ना जाने क्यों आज उसे विक्रांत से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी वो चुपचाप खड़ी थी विक्रांत भी शांत होकर खड़ा था कहा ये दोनों कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे और कहा आज एक दूसरे के सामने शर्म से लाल हुए जा रहे थे विक्रांत भी काफी दिल फेंक आदमी था आज तक उसने किसी भी लड़की को कोई तोहफा नहीं दिया था यहाँ तक कि विक्रांत ने पहले कभी जिया को भी कोई तोहफा नहीं दिया था लेकिन आज वो नैना के लिए गिफ्ट लेकर आया था और नैना को भी आज तक किसी ने भी गिफ्ट देने की हिम्मत नहीं दिखाई थी इसलिए विक्रांत की हिम्मत की तारीफ भी करनी होगी आज इन दोनों के बीच एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी अच्छा रख लो इसे तुम्हारे कानों में बहुत खूबसूरत लगेगा मैं चलता हूँ अब विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा इसके बाद वो वहां से मुड़कर जाने लगा वो मनी मन को सोचने लगा इसने मुझसे इयर तो ले ली इसका मतलब ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगी है विक्रांत ने बिल्कुल झूठ बोला था क्योंकि नैना के बाल बिल्कुल करली थे उसके कान हमेशा बालों से ढके रहते हैं ऐसे में उसके कानों में इयर कैसे लगेगी ये बताना बहुत मुश्किल है विक्रांत ने खुद भी कभी नैना के कानों में कभी इयर देखा ही नहीं था लेकिन प्यार में पड़े इंसान को किसी तरह की झूठी मूठी तारीफें करनी ही पड़ती हैं अरे विक्रांत एक मिनट नैना ने उसे पीछे पीछे से बुलाकर रोकते हुए कहा हाँ हाँ बोलो क्या हुआ विक्रांत तुरंत ही वापस मुड़ गया फिर नैना ने उसकी तरफ इयर बढ़ाते हुए कहा ये ये तुम पहना दो मुझे वो मुझसे पहने नहीं जाते ओ हाँ हाँ मैं पहना देता हूँ विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए और उसके बाद वो धीरे से नैना के कानों की तरफ बढ़ने लगा उसने नैना के हाथ से इयर ले लिया और फिर उसके दाएं कानों में इसे पहनाने लगा क्या हुआ तुम कांप क्यों रहे हो कहीं कान में दूसरा छेद मत कर देना नैना <laughs> ने विक्रांत की हड़बड़ाहट को भाप लिया था विक्रांत कांपते हुए हाथ से नैना के कान में इयर डालने की कोशिश कर रहा था नैना ने अपने दाएं हाथ से कानों पर आ रहे बाल को हटाकर साइड में कर दिया इससे विक्रांत को नैना की गर्दन की हड्डियां साफ दिखाई पड़ रही थी उसे देखकर विक्रांत के शरीर में एक अलग ही तरंग दौड़ रही थी किसी तरह से उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए नैना के एक कान में इयर डाल दिया इसके बाद वो दूर हटकर खड़ा हो गया एक ही कान में दूसरा यूं ही रहने दो नैना विक्रांत को दूसरा इयर दिखाते हुए कहा नहीं नहीं मैं करता हूँ करता हूँ विक्रांत ने दूसरा इयरिंग भी उठा लिया इसके बाद वो घूमकर नैना के दूसरे साइड में जाकर खड़ा हो गया था इस बार नैना चुपचाप खड़ी थी ऐसा लग रहा था कि इस बार वो विक्रांत को पूरी स्वतंत्रता देना चाहती है इस बार विक्रांत ने अपने हाथों से उसके बालों को एक साइड में किया जब विक्रांत ने नैना के बालों में अपना हाथ फेरा तो उसके दिल की धड़कन भी तेज हो उठी विक्रांत को नैना के कंधे साफ दिखाई पड़ रहे थे विक्रांत के लिए खुद के हार्मोन्स पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था उसका जी तो यही कर रहा था कि अभी के अभी नैना को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने प्यार का एहसास करवा दे लेकिन इस वक्त विक्रांत की कुछ भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी ऐसा नहीं था कि सिर्फ विक्रांत ही डरा सहमा हुआ था बल्कि नैना भी काफी असहज हो रही थी विक्रांत का हल्का सा भी नैना के दिल की धड़कन को काफी तेज कर दे कर दे रहा था हालांकि अभी विक्रांत नैना के कानों में रिंग पहना ही रहा था कि अचानक से वहां पर अमित आता हुआ दिख गया वो इस वक्त काफी नींद में था और यहाँ वॉशरूम जाने के लिए आया हुआ था जैसे वो बाथरूम की तरफ मुड़ा वहां सामने उसने नैना और विक्रांत को एक साथ देख लिया उसने देखा कि विक्रांत नैना के कानों में इयरिंग डालने की कोशिश कर रहा है वो उन्हें देखकर अवाक होकर खड़ा रह गया विक्रांत भी रुक गया और साथ ही नैना भी शर्माते हुए खड़ी रह गई क्या देख रहे हो इयर नहीं देखा क्या है जाओ यहाँ से विक्रांत ने अमित की तरफ देखते हुए कहा अमित भी शर्म से लाल हो गया अमित तुरंत ही यहाँ से मुड़ गया और ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे मानो उसने कुछ देखा ही नहीं है ओहो इतनी नींद आ रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किधर जाऊं ऊपर ऑफिस में जाना था और बाथरूम में चला आया ओह पल भर में अमित यहाँ से चला गया नैना और विक्रांत एक साथ हंस पड़े अमित के अचानक से आ जाने की वजह से इन दोनों के बीच जो मोमेंट बन रहा था वो भी रुक गया नैना विक्रांत से दूर जाकर खड़ी हो गई अच्छा अब मैं चलती हूँ बहुत देर हो गई है हाँ हाँ जाओ आराम करो तुम बहुत थक गई होगी विक्रांत ने कहा इसके बाद पल भर में नैना यहाँ से गायब हो गई उसके बाद विक्रांत भी यहाँ से घर के लिए निकल पड़ा इस वक्त वो सोच में डूबा हुआ था नैना के बारे में सोचते हुए विक्रांत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा रही थी उसने अपने साथी शैरलॉक होम्स को साथ में लिया और फिर घर के लिए निकल पड़ा पूरे रास्ते वो सिर्फ नैना के ही ख्याल में डूबा रहा जब वो घर पहुंचा तो उसने नैना के व्हाट्सएप पर मैसेज करके उससे ये भी पूछा कि वो घर पहुंची या नहीं जैसे घर का दरवाजा खोला और विक्रांत की नजर अंदर पड़ी वो दंग रह गया उसने सोचा नहीं था कि घर पहुंचने के बाद उसे यह हाल देखने को मिलेगा यहाँ तक कि उसका कुत्ता शेरलॉक होम्स भी जोर जोर से भौंकने लगा विक्रांत ने जैसे दरवाजा खोला उसके सामने माँ खड़ी थी अचानक से माँ को इस तरह से देखकर विक्रांत चौंक उठा माँ क्या कर रही हो डरा दिया तुमने तो अभी तक सोई नहीं इतनी रात हो गई है विक्रांत ने अंदर पहुंचकर अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहा अब शेरलॉक होम्स भी थोड़ा नॉर्मल हुआ उसने भी भौंकना बंद कर दिया था वो चुपचाप लॉबी में जाकर अपनी जगह पर सो गया तुम कहाँ रह गए थे बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी खाना भी ठंडा हो गया है रुको तुम हाथ पैर धो लो मैं खाना गर्म करके ले आती हूँ मैं तुरंत ही किचन में जाकर खाना गर्म करने लगी विक्रांत भी फटाफट अपने कपड़े बदलकर और हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर आकर बैठ गया सुबह जोर की भूख लगी थी और माँ के हाथ का खाना भी उसने बहुत दिन से नहीं खाया था इस जन्म में तो कभी भी नहीं खाया वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था तभी उसके व्हाट्सएप पर नैना का रिप्लाई आया हाँ मैं पहुंच गई आराम से तुम भी घर पहुंचकर जल्दी सो जाना बहुत थक गए होंगे गुड नाइट नैना का मैसेज पढ़कर विक्रांत मुस्कुरा उठा क्योंकि आज से पहले उसके और नैना के बीच कभी भी इस तरह का मैसेज नहीं हुआ था ये प्यार और केयर वाला मैसेज दोनों तरफ लगी इश्क की आग की तरफ इशारा कर रहा था तक माँ ने खाना लाकर टेबल पर रख दिया था विक्रांत बेहद खुशी मन से खाना खाने लगा खाना खाते खाते ही उसने नैना को एक और मैसेज कर डाला गुड नाइट टेक केयर वैसे तो थे ये सिर्फ साधारण से मैसेज लेकिन फिर भी विक्रांत के लिए अपने क्रश को मैसेज करना बहुत बड़ी बात थी ऊपर से आज उसे दूसरी तरफ से भी प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा था विक्रांत अब तक अपना खाना खा चुका था लेकिन अभी तक उसके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी इसी बीच वो रोनित बनर्जी के बारे में सोचने लगा खुशियां हम सभी के आसपास ही इन छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपी हुई होती हैं लेकिन फिर भी लोग इसे इग्नोर करके सिर्फ अपने दुख को कुरेदने में लगे रहते अभी विक्रांत खाना खा के उठाई था कि उसकी माँ आकर उसके बगल में बैठ गई उनके हाथ में विक्रांत की डायरी थी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने डायरी में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पा ली थी अब वो विक्रांत को इसके बारे में बताने वाली थी विक्रांत ने तुरंत ही माँ के हाथ से अपनी डायरी वापस ले ली माँ ये क्या है मेरी डायरी क्यों ली आपने ये पर्सनल है माँ इसे इसे मत छुआ करो अरे चिंता मत कर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है बस वो तूने जो कोडवर्ड वगैरह लिखा था ना वो उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है ना वही समझने की कोशिश कर रही थी माँ ने जवाब दिया क्या क्या कोडवर्ड विक्रांत शॉक्ड रह गया ऐसा लग रहा था कि उसके पेट का खाना अभी बाहर आ जाएगा